तो क्या बस्तियों वाले उससे बेखौफ हो गए हैं कि हमारा अजाब उन पर रात के वक्त आ जाए और वो सोए हुए हों